विविध बसन उप धान तुराए क्षीर फेन मृदो बसन सुहाए तहसियराम शयन निष करहे निज छबिरते मनोजम दुहरम साथरे सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जो मातु पिता परि जनपुरवासे सखा सुशील दासयरुदासी जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है वहाँ उन चौ चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सासरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ जुग वश प्राण नाय महिसोवत सोवत राम गोषाये पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर ससुरसुरे सखार जक जग विदित प्रभा ससुरसुरे सखार गुरामचन्द्र पति शोब देहि सोवत महे विधि बहन के रघुबीर के कानन जोगो करम प्रधान सत्य कहलो सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं जिनके पिता जनक जी हैं जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं वही जानकी आज जमीन पर सो रही हैं विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है कहे नंदिन मंदमते कठिन कैकयनन्दिनि मन्दमते कठिनकुटिलपनकेन जहि जान के सुख अवसर दुख दे कह के राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया भई दिन कर कुल बिटप कुठारे कुमति के न सब विश्व दुखारे रे भय विषाद निषादहि शयन निहारे बोले लखन मधुर विदुबाने ज्ञान विराग भगति रस सा हुन को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हे भाई कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं जोग वियोग भोग भल मंदा हित नहीं मन न भ्रमतः न जना बमरणो जहा नग जग जानो संपत्ति बेपते कर्मयरुकारो धरनि धरमु धनु पुरपरवारो सरगुनर कु लगे व्यवहार देखिया सुनिया गुनिया मन माहे मोह मूल पर मिलना वियोग बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं धरती धर धन घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है परमार्थता ये नहीं है सपने ही हो ये बेखार नर सपन ही हो ये बेखार निप रंकना कपति हो जागे हाय लाभ कछो तिमि प्रपंच जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए